जीत फिक्स खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करना क्योंकि मोटरसाइकिल पानी पे नहीं चल सकती और पानी का जहाज रोड पर हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं यूनिक हैं हम सब में अलग अलग क्वालिटीज है अलग अलग टैलेंट है जंगल का राजा शेर समुद्र का अच्छा तैराक नहीं बन सकता उसी प्रकार से समुद्र में रहने वाली घातक शार्क मछली गुफाओं में नहीं रह सकती तुम्हारे शौक तुम्हारी मंजिल तुम्हारे रास्ते दूसरों से अलग है क्योंकि तुम खुद उनसे अलग हो और किसी से अलग होना कोई कमी नहीं है तुम्हारी बल्कि पहचान है तुम्हारी एक अलग पहचान जिसके लिए तुम्हें ये जिंदगी मिली है एक अलग उड़ान जिसके लिए तुम्हें ये पंख मिले हैं आसमान उनके लिए नुकसानदायक है जो इससे आने वाली धूप और बारिश से परेशान होते हैं आसमान तो उनके लिए है जो ऊंची उड़ाने भरने के शौकीन हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो अपना मकसद पा लेते हैं और जो सिर्फ दूसरों की सफलता से इम्प्रेस होकर उनका रास्ता चुनते हैं वो फेल हो जाते हैं एक मूर्ख इंसान वो है जो जिस डाल पे बैठता है उसी को काटता रहता है तो फिर जो लोग जिंदगी सिर्फ काटने के लिए जीते हैं उनको क्या कहोगे अपमान करने वालों को सम्मान दो जो कमियां हम में वो बता रहे हैं उनको दूर निकालो लेकिन इतना भी बेवकूफ मत बनो कि हमारी जिंदगी उनके हाथों की कठपुतली बन जाए कठपुतली किसी के भी हाथों नहीं बनना चाहे किस्मत हो या चुनौतियाँ चाहे अपने हो या दुनिया तुम्हारी जिंदगी तब तक ही तुम्हारी है जब तक तुम्हें पूरी दुनिया से ज्यादा खुद पर विश्वास होगा तुम्हारी जिंदगी तब तक ही तुम्हारी जिंदगी है जब तक तुम इसको दूसरों के हाथों नीलाम नहीं कर देते चीटी और हाथी की तुलना मत करो दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है हाथी भले ही बलवान है लेकिन चीटी फिर भी अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन लेकर कहीं भी चढ़ जाती है किसी महाराजा का किला अंदर से कितना ही खूबसूरत हो लेकिन बाहर से बहुत रफ एंड टफ दिखता है उसी प्रकार से तुम भी अपनी नजाकत को कभी अपने चेहरे पर मत आने दो नहीं तो सब के सब तुमको कमजोर समझने लगेंगे हमारा एक एड्रेस पक्का है और वो है मौत और हम उसको भूल करके पता नहीं कहां खो जाते हैं जब हम दुनिया में आते हैं तो एक हाथ में जिंदगी होती है और एक हाथ में वापस जाने की टिकट और हम हर बार जिंदगी को ही चूज करते हैं और वो टिकट सिर्फ एक बार ही यूज होती है उसके बाद जिंदगी का ऑप्शन तक नहीं बचता इसलिए जब तक उस टिकट की डेट नहीं आई अपनी जिंदगी को खुल करके जियो खुल करके मजा लो वो करो जो तुम करना चाहते हो लेकिन एक चीज याद रखना जो तुम आज करोगे वही तुम्हारे सामने फ्यूचर बन के खड़ा हो जाएगा इसलिए सोच समझ के करना लेकिन एक काम जरूर करना देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना जय हिंद वंदे मातरम Did fix.